परम पिता परमात्मा का मन में स्मरण रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आरएबी विनय के प्रथम प्रकाश का अड़तालीसवां मंत्र आज हमें प्रेरणा देने के क्रम में सामने आया है इस मंत्र में मूल स्तुति और साथ में प्रार्थना का अंश भी है परमात्मा के लिए कहा गया है हे परमात्मा देवो देवानाम असी आप देवताओं के भी देवता हैं देव का अर्थ विद्वान परम विद्वान जब हम करते हैं तो वह परमात्मा परम विद्वानों का भी देव है परम विद्वान है उनसे भी बड़ा विद्वान है इस संसार में ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी है ज्ञान के आधार पर ही सब कुछ मिलता है ये अलग बात है कि आजकल ज्ञान को बड़ा होते हुए भी सबसे पूज्य नहीं माना जाता सब उसे उस ढंग से नहीं देखते और वैसा व्यवहार नहीं करते लेकिन समस्त धनों समस्त ऐश्वर्यों समस्त यशों को देने वाला मूलतः ज्ञान ही है समस्त श्रेष्ठ कर्मों के पीछे भी ज्ञान ही है इस रूप में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पूजनीय ज्ञान है और जो मनुष्य ज्ञान से युक्त हैं देव हैं वो सबसे बड़े हैं ब्राह्मण जो ज्ञान को देते हैं अपने अपने स्तर पर उन देवों परम विद्वानों का भी जो देव है उनको भी जो ज्ञान प्रदान करता है उनको भी जो ज्ञान की स्थिति तक ऊंचाई तक पहुंचाने में सहयोगी होता है ऐसे आप हो ये आर्य एक भावना कर रहा है वो आर्य जो ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा मानता है देवों को विद्वानों को सबसे ऊंचा मानता है वो इस बात को कह रहे हैं और उसकी दृष्टि से ही उसके कहने में ही ये वाक्य सार्थक है जो अनार्य ब्राह्मण को और देवताओं को श्रेष्ठ नहीं मानता हीन मानता है जो बलवानों को बड़ा मानता है जो धनवानों को बड़ा मानता है वो यदि ये वाक्य बोले कि हे परमात्मा आप देवों के भी देव हो विद्वानों के भी विद्वान हो तो वो परमात्मा के प्रति वो उच्चता का भाव उस स्तर की उच्चता का भाव पैदा नहीं कर सकता क्योंकि उसके मन में देवताओं के प्रति भी उच्च भाव नहीं है तो ये एक आर्य बोल रहा है जिसे ज्ञान का और ब्राह्मणों का महत्व और उनकी सर्वश्रेष्ठता स्वीकार्य है भले ही वो ब्राह्मण धन से यश से हीन हो सौंदर्य से हीन हो वो परमात्मा को कह रहा है और तब उसके मन में परमात्मा का ठीक अस्तित्व आएगा कि परमात्मा कितना महान है कितना बड़ा ज्ञानी है आगे कहा हे परमात्मा मित्रो अद्भुतो असी आप अद्भुत मित्र हैं एक आर्य मित्र की मित्रता को समझता है मित्रता क्या होती है उसे वो निभाता है स्वयं मित्र बन के रहता है और मित्र को भी उचित मान देता है मित्र के महत्व को जो समझता है वो व्यक्ति ये बात बोल रहा है संसार में बड़े बड़े मित्र होते हैं बड़े बड़े विचित्र ढंग से सहयोग कर देते हैं अपनी हानि करके भी मित्र का हित कर देते हैं जीवन को न्यौछावर तक कर देते हैं ये भी अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है स्वयं कष्ट उठा करके मित्र को दुख से हटाना मित्र को सुखी करना ये भी अपने आप में बहुत ऊंची बात है इन सब विचित्रताओं और महत्ताओं के होते हुए भी परमात्मा इससे कहीं बहुत बड़ा इससे कहीं बहुत अधिक मित्र है ऐसा मित्र जो कि दूसरा कोई हो नहीं सकता उसके द्वारा दी जाने वाली सहायताएं इतनी अधिक और इतनी मूलभूत हैं जितनी की कोई दूसरा दे नहीं सकता मित्र में जितना धैर्य होता है अपने साथी के दोषों को सहन करने का उससे कहीं अनंत गुना धैर्य उस परमात्मा में है जो हमारे दोषों को सदैव सहन करता है मित्रवत और सदैव हमें सुधरने का अवसर प्रदान करता रहता है कभी ये नहीं कहता कि आपको इतने जन्म हो गए दोषों को दूर करते आप बार बार वही दोष करते हैं फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं फिर वही दोष करते हैं तो अब मैं आपको फिर से जन्म नहीं दूंगा वो कभी नहीं करता न कभी सोचता सदैव हमारे हित के लिए लगा है लगा है ऐसा वो अद्भुत मित्र जिस मित्र के द्वारा हानि की कोई आशंका ही नहीं है क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि उसका स्वयं का कुछ भी स्वार्थ नहीं है ऐसा वो अद्भुत मित्र आप हमारे अद्भुत मित्र हो आगे कहा वसुर वसु नाम जो बसाने वाले वसु हैं उनके भी आप वसु हो उनके भी आप बसाने वाले हो आर्य वसुओं को भी देखता है ये वसु है ये बसाने वाला है ये पृथ्वी बसाने वाली है ये पेड़ पौधे वनस्पति बसाने वाले हैं सूर्य चंद्र बसाने वाले हैं लेकिन वो यहीं तक नहीं रुकता है वो इसके पीछे भी देखता है कि इनको भी बसाने वाला कौन है इनको भी बसाने वाला कोई है एक भौतिकवादी और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में यहां भिन्नता होती है जो अपने बसाने वालों पर कुछ भी गौर नहीं करते वो तो न भौतिक हैं न आध्यात्मिक हैं वो तो निकृष्ट लोग हैं सहायता करने वालों के प्रति भाव कृतज्ञता न रखना उनको सहयोगी न मानना सहयोग लेके भी सहयोग न मानना ये तो निम्न कोटि के लोगों का काम है लेकिन जो अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और जो अच्छे भौतिकवादी भी हैं ईश्वर को नहीं भी मानते हैं लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं वो इन वसुओं का मान रखते हैं उनके महत्व को समझते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं लेकिन भौतिकवादी केवल वसुओं तक दिखते हैं वसुओं के वसु तक नहीं जाते आर्य को ये भावना सदा ही रखनी होती है इन बसाने वालों के पीछे भी कोई बसाने वाला है इनको भी कोई चलाने वाला है ये वसु स्वतः अपने आप अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य से हमें नहीं बसा रहे हैं तो हे प्रभु आप वसुनाम वसु वसुओं के वसु हैं और आर्य इसे अपने पर भी घटा लेता है आर्य देखता है मैं भी किसी का वसु हूं मैं भी किसी को बसाने वाला हूं किसी की कुछ न कुछ सहायता मैं भी करता हूं अपने बच्चों की अपने माता पिता की मित्रों की मैं भी तो वसु हूं उतने उतने अंश में वहां भी वो देखता है कि मैं जो वसु का काम कर रहा हूं दूसरों को बसाने का काम कर रहा हूं इसके पीछे दूसरा वसु है जो मुझे बसा रहा है जिसकी सहायता से मैं वसु बना हुआ हूं जिसके बिना मैं वसु नहीं रह सकता इस भाव को रखते हुए वो अहंकार से दूर रखता है अपने को परमात्मा को कहा वसुर वसु नाम आप सभी वसुओं के वसु हो कोई भी ऐसा वसु नहीं है जिसके वसु आप ना हो आगे कहा चारू रथरे अध्वर में यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों में आप चारु हैं महर्षि लिखते हैं इसको चारु अत्यंत शोभायमान और शोभा के देने वाले हो श्रेष्ठ कर्मों में आप ही शोभायमान हो रहे हो स्थूल दृष्टि वाला उस कर्म को सुशोभित समझेगा उस कर्म को करने वाले मनुष्य को सुशोभित समझेगा उससे आने वाले अच्छे परिणाम के प्रति आकर्षित होगा उसे वो चारू देखेगा लेकिन आर्य समस्त श्रेष्ठ कर्मों में जो भी कोई कर रहा है उसे उसमें भी उस परमात्मा को शोभायमान देख रहा है कि परमात्मा की आज्ञाएं यहां पर क्रियान्वित हो रही हैं और परमात्मा की आज्ञा के क्रियान्वित होने से ये कार्य कितना सुंदर हो रहा है इसका परिणाम कितना अच्छा आ रहा है लोगों का कितना हित हो रहा है इन सब के बीच में इन सब अध्वरों में श्रेष्ठ कर्मों में यज्ञों में वो परमात्मा को भी शोभायमान देखता है परमात्मा की आज्ञाएं फलीभूत हो रही हैं परमात्मा के आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं लोग परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चल रहे हैं और भी वो परमात्मा को देखता है परमात्मा वहां शोभायमान हो रहा है और शोभा के देने वाले हो परमात्मा इन अध्वरों में शोभा को देने वाला भी है इन श्रेष्ठ कर्मों में जो शोभा होती है वो परमात्मा की व्यवस्था से होती है जो अच्छे परिणाम आते हैं वो परमात्मा के सहयोग से आते हैं परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों को सुशोभित करता है अथ्वरे चारु अथ्वरे का अर्थ ज्ञान आदि यज्ञ में लिखा है यज्ञ बहुत से हैं बहुत से श्रेष्ठ कर्म हैं लेकिन ज्ञान भी एक यज्ञ है उसे प्रमुखता मानते हुए महर्षि ने ज्ञान आदि यज्ञ लिखा जितना ज्ञान का यज्ञ चल रहा है श्रेष्ठ कर्म चल रहा है वो भी परमात्मा के द्वारा सुशोभित है उनकी शोभा तब है जब वो परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप हैं शुद्ध ज्ञान के अनुरूप हैं तभी वो शोभित होते हैं तभी शोभायमान होते हैं और श्रेष्ठ कर्मों को अध्वर कहा जिसमें कि हिंसा नहीं होती है जिसमें कि हानि नहीं होती है जो कि अच्छे होते हैं हितकारक होते हैं वो ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं वे ही यज्ञ कर्म होते हैं आगे कहा शर्मंत श्याम तव सप्रथस्तमे अग्नि हे परमात्मा तव सप्रथस्तमे तेरे इस अत्यंत विस्तीर्ण प्रथित फैले हुए सर्वत्र फैले हुए सख्य सख्य में जो कल्याणकारक हितकारक कर्म है वस्तुएं हैं तेरी उसमें आर्य परमात्मा के सख्य को सर्वत्र फैला हुआ देखता है परमात्मा का सख्य सर्वत्र फैला है प्रथित है विस्तीर्ण है और वो सम्यकतया विस्तीर्ण है सब प्रथस्थ और जो अच्छी तरह फैले हुए हैं उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ढंग से फैला हुआ है सब प्रथस्तमे उससे श्रेष्ठ व्यवस्था हो नहीं सकती उससे श्रेष्ठ व्यवस्था कोई कर नहीं सकता हे प्रभु आपके द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है सख्य है वो ऐसा है परमात्मा के सख्य को वो इतना उच्च स्थान देता है आपके इस सब तथस्तम सख्य में शर्मन आमा हम शांति को प्राप्त करें सुख को प्राप्त करें और हम इसी में स्थिर हो जाएं। महर्षि ने इसमें क्या लिखा आपके अति विस्तीर्ण आनंद स्वरूप सखाओं के कर्म में हम लोग स्थिर हों जिससे हमको कभी दुख प्राप्त ना हो हमें परमात्मा के इस सब प्रथस्तम सख्य में स्थिर होना है हम उसमें स्थिर रह नहीं पाते परमात्मा का सख्य सब जगह है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते विस्मृत कर देते हैं हम उसमें अपने को स्थिर नहीं रख पाते हम उसमें अपने को स्थिर रख लें हम उसमें स्थिर हों ये कामना प्रार्थना की गई जिससे कि हम दुखों से पूर्णतः निवृत्त हो जाएं और समस्त दुखों से निवृत्त होने का छूटने का यही उपाय है कि परमात्मा के सब प्रथस्तम सख्य में हम अपने को स्थिर कर दें हम ये अनुभव करने लग जाएं, हम पूरी तरह स्वीकार कर लें कि उसके सख्य में ही हमारा कल्याण है और उसका सख्य सदैव सर्वत्र सर्वोच्च स्थिति में हमारे लिए सदा विद्यमान है और इस स्थिति में देखते हुए हे अग्नि आपके सख्य में वयम तव मां ऋषामा आपके इस सख्य में आपकी इस व्यवस्था में हम मां ऋषामा एक दूसरे की हिंसा ना करें एक दूसरे के साथ अप्रीति का व्यवहार ना करें परस्पर प्रीति रखें महर्षि ने लिखा आपके अनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रीति युक्त कभी ना हो जो परमात्मा के सख्य में विद्यमान है जो परमात्मा को इस रूप में देख रहा है और परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है उसमें स्थिर है उन दो व्यक्तियों में अप्रीति कभी हो नहीं सकती उन बहुत से लोगों में परस्पर अप्रीति हो नहीं सकती जो परमात्मा के इस प्रकार के सख्य में विद्यमान है अप्रीति वहां होती है जहां कोई एक या दोनों उस सख्य में स्थित नहीं होते कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है एक प्रीति दुष्टों में भी होती है वो परस्पर संगठित रहते हैं आर्य प्रार्थना कर रहा है कि जो हम अप्रीति युक्त रहे वो आपके सख्य में रहते हुए अप्रीति युक्त हो अप्रीति से रहित हो प्रीति युक्त रहे आर्य ये प्रार्थना कभी नहीं करेगा कि हम वैसे तो प्रीति युक्त तो दिखें संगठित दिखें लेकिन परमात्मा के सख्य से परमात्मा के निर्देशों से पृथक रहते हुए प्रीति युक्त हो जाएं ऐसा आर्य कभी नहीं चाहेगा वो प्रीति भी चाहता है लेकिन परमात्मा के सख्य के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप परमात्मा के निर्देशों के अनुरूप वो मित्रता चाहता है नहीं तो ऐसी दुष्टों की मित्रता स्वार्थ युक्त मित्रता से तो वो अमित्रता को पसंद करेगा क्योंकि वो परमात्मा के सख्य से परमात्मा की आज्ञाओं से पृथक नहीं होना चाहते हैं और जो परमात्मा की आज्ञाओं से पृथक है उससे तो उसकी अप्रीति होगी ही प्रीति मुख्य नहीं है परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप चलना मुख्य है और जब परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप चल रहा है उसको चलते हुए हम प्रीति से युक्त रह सकें यानी हमारे आसपास के लोग भी परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलने वाले बन जाएं और हम ऐसे लोग परस्पर प्रीति रखें इस सब के लिए परमात्मा के अनुग्रह की कामना भी की गई हमें ये प्रयत्न करना है और साथ में परमात्मा से अनुग्रह की प्रार्थना भी करनी है हमारे अंदर अप्रीति ना आए और हमारे अंदर परमात्मा की आज्ञाओं से विपरीत चलते हुए प्रीति भी ना आए हमारे अंदर परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप चलते हुए प्रीति रहे ये आर्य की भावना आर्य का लक्ष्य आर्य के लिए निर्देश इस मंत्र में किया और महर्षि ने उन भावों को मंत्र की बातों को हमारे हित के लिए सरल शब्दों में स्पष्टता से रखा किन्हीं को कुछ पूछना है तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और मन में आज के अभिविनय को बैठाने का अंतर प्रविष्ट रखने का और उसे स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेंगे ओ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शांति शान्तिः शांति सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको साथ नमस्ते ओम